के ऊपर राम कृपा करके एक बार देख ले उसके लिए सब सुगम हो जाता है अब हनुमान जी ने बड़ा लघु रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया और वहाँ जा करके हनुमान जी ने पहले ये संकल्प कर लिया कि बाबा लंका में जानकी जी हैं हैं तो जानकी जी तो हमारी इष्ट देवी हैं तो फिर लंका के तो एक एक जो जहाँ जानकी जी वो हमारे लिए मंदिर तो किसी भी घर में घुसे तो ये समझ के घुसे कि ये तो मंदिर है मंदिर मंदिर प्रतीक कर करी शोधा प्रत्येक मंदिर में उन्होंने खोज की जहाँ तहाँ उन्होंने अगणित जूठा देखे अंत में वो रावण के मंदिर में भी गए गए दशा वहाँ भी पहले से सोच लिया हम मंदिर में जा रहे हैं हमारा भाव बहुत पवित्र होना चाहिए मंदिर में जाते समय जैसा भाव पवित्र हो वैसे ही रहे वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि वहाँ स्त्री पुरुष कैसे रात में सो रहे थे है ना शराब पिए हुए थे कोई नंगे थे कोई बिलास में रथ थे कोई जुआ खेल रहे थे कोई इस तरह से वहाँ के लोग जो हैं सोए हुए नहीं थे हाँ। कोई कोई सोए थे कोई भोग गुलास में रस थे कोई नंगे थे कोई सुंदर थे कहीं बलात्कार हो रहा था कहीं स्त्रियां कहीं बाहर की आई हुई थी ऐसा ऐसा ढंग वहाँ था महाराज लंका में तो बाद में तो जा करके प्राय बड़ा पश्चाताप हुआ हनुमान जी को कि हमने रात के समय पराये घर में घुस के और पर स्त्री और पर पुरुष का दर्शन किया तो बड़ा भारी पाप किया अब तो हम ए, मर जाए यही हमारे लिए प्रायश्चित ऐसा सोचने लग गए वाल्मीकि रामायण में ये वर्णन है तो ये फिर रावण के घर में गए और वो बड़ा विचित्र था वो तो महाराज इंद्र की संपत्ति से भी अधिक संपत्ति जब किसी को देखना हो भोग विलास की बहुत अधिकता आधिक्य उसका देखना हो तो वाल्मीकि रामायण में रावण का वर्णन पढ़े बोला लेकिन ये सब कुछ दिखने वाला नहीं है हमारे महात्माओं ने ये विचार किया कि जो सादा जीवन व्यतीत करना है और अपने विचार को उच्च रखना है वही सबसे बड़ी श्रेष्ठता है ये बोध विलास की श्रेष्ठता कोई श्रेष्ठता नहीं है अब उसने देखा कि रावण भी चयन कर रहे हनुमान जी ने देखा कि रावण भी चयन कर रहा है पर उस मंदिर में तो पहले ही की नहीं है फिर अब देखा कि एक भवन है और सबके घर में गए तो वो तो सब मंदिर था लेकिन विभीषण जी के घर गए तो भवन है तो क्यों भवन है तो वहाँ हरि मंदिर सह भिन्न बना हुआ वहाँ भगवान का मंदिर अलग बना हुआ है और भक्त का जो घर है ना एक भक्त का घर जो है वो दूसरे भक्त का घर होता है है ना हाँ क्योंकि वो दोनों भक्त जो है वो अपना अपना घर तो मानते नहीं दोनों भगवान का ही मानते हैं इसलिए विभीषण के घर के सामने जब हनुमान जी पहुँचे तब उनको उसमें मंदिर बुद्धि करने की जरूरत नहीं पड़ी ऐसा लगा कि हम तो अपने घर में आ गए तो भवन एक पुनिदीक सुहावा बड़ा सुंदर और वहाँ भगवान की पूजा करने के लिए अलग मंदिर बना हुआ था और तो राजा का छोटा भाई था बड़ा विस्तार था वहाँ और उस गृह पर रामायु अंकित था धनुष बाण शक्ति और खाल ये चारों के चिन्ह बनाए हुए थे राम नाम नहीं लिखा था राम नाम लिखा नहीं था नहीं तो रावण जो है तो बहुत नाराज हो जाए लंका में रहने न दे इसलिए धनुष बाण का चिन्ह बनाया हुआ था ये शोभा वर्णन जाए उसकी शोभा का वर्णन नहीं कर सकते और जगह से जगह तुलसी लगाई हुई थी हो उनके घर में आ, हाँ, श्री रामायण करके वो रोज एक हजार तुलसी चढ़ाते थे तो एक एक तुलसी का पत्ता लेने के लिए तुलसी उनके घर में लगाई हुई थी लंका निशिचर निकर निवासा यहाँ कहा सज्जन कर बासा मन मोह तरक करे कपिलागा ते ही समय कनु जागा राम राम से सुमिरन कीना हृदय भरत कपि सज्जन कीना यही कनु हट करी हूँ पहचानी साधु के हो इनकार विश्व रूप भरी वचन सुनाए सुनत विभीषण आए करि प्रणाम पूछी कुशलाई पुत्र निज कथा बुझाई की तुम हरिदासन प्रीति अति होई की तुम राम दीन अनुरागी आयो मोहि करम पर भागी तब हनुमंत कही तब राम कथा निज नाम सुनत जुगल सन गुरु अब वर्णन करते हैं कि हनुमान जी विचार करने लगे कि लंका में तो निशिचर निकर का निवास है झुंड के झुंड निशाचर रहते हैं यहाँ भला ये सज्जन कहाँ से आ गया है ना तुलसी का पौधा होना और रामायुद्ध के द्वारा घर का अंत होना भगवान का मंदिर अलग होना ये तो सज्जन के चिन्ह है ये यहाँ कहा अब कभी जो है वो मन में तर्क करने लगा उसी समय विभीषण जी जग गए और जग करके जैसे आदमी सोता है ना अगर राम राम करते सो गए तो उठते समय भी राम राम उसके मुंह से निकले और सारा दिन मांगलिक हो जाए वो हाँ। और रोते हुए सोए है ना गोली खा के अरे बड़े दुख थे और फिर जब उठे तब वो याद आई कि सोने के पहले हमको क्या क्या तकलीफ थी ये तकलीफ लेके सोते हैं और तकलीफ लेके उठते हैं महाराज जिंदगी इन लोगों ने जबरदस्ती तकलीफ की बना दी तो अब भगवान राम राम राम उनके मुंह से भगवान का नाम निकला बड़ा हृदय में हर्ष हुआ कपि ने कहा अरे ये तो सज्जन का चिन्ह है भाई सज्जन का चिन्ह है कि उसके मुख से भगवान का नाम निकले तो इससे मैं बलात् पहचान करूंगा क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती अब ब्राह्मण का रूप धारण किया क्योंकि जो भगवत भगवत भक्त होते हैं ना वो ब्राह्मण का बड़ा आदर करते हैं जिसे नम भगवान स्वयं ब्राह्मण के चरण चिन्ह को अपने हृदय पर धारण करते हैं इसलिए जो भगवान के भक्त हैं वो ब्राह्मण का बहुत आदर करते हैं तो ये भी एक पहचान निकली ब्राह्मण का रूप धारण करके उन्होंने वचन सुनाए उन्होंने भी राम राम कहा सुन करके विभीषण जो है वो उठ करके वहाँ आए गए और प्रणाम करके कुशलता पूछी बोले ब्राह्मण देवता अपनी कथा हमको समझा करके बताओ या तुम भगवान के भक्तों में से कोई हो या तो तुम भगवान हो और या तो भगवान के भक्त हो विभीषण जी का ये कहना था कि या तो तुम भगवान और या तो भागवत क्योंकि जिससे जिसका प्रेम होता है ना उसको वही वही मालूम पड़ता है दुनिया में आ, हाँ। बुरी कल्पना जो है वो बुरे हृदय में होती है और अच्छाई की कल्पना अच्छे हृदय में होती है पापी सर्वत्र पापम आशंकते जिसके हृदय में पाप रहता है उसको सब पापी मालूम पड़ते हैं और जिसके हृदय में भगवान रहते हैं उसको सब जगह भगवान दिखते हैं बोले मेरे हृदय में बड़ा प्रेम आ रहा है क्या तुम स्वयं राम हो बोले बाबा राम यहाँ क्यों आने लगे तो क्यों नहीं आवेंगे दीन अनुरागी वो तो दीनों पर बड़ा अनुराग करते हैं तो कहीं मुझे बड़भागी बनाने के लिए वो स्वयं आ गए हों उनकी कृपालुता और उनके और उनके स्वभाव के लिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो स्वयं मेरे तरीके दीन के घर में आ जाए अब तो हनुमान जी ने बड़े प्रेम से राम जी की कथा सुनाई और अपना नाम बताया उनसे छल नहीं किया हो बता दिया कि हम पवन के पुत्र हैं हनुमान हैं और राम के कार्य के लिए आए हैं तो अब तो दोनों के शरीर में एक साथ ही पुलक हो गया और मन मगन सुमिर गुणग्राम और भगवान के गुणग्राम का स्मरण करके दोनों का मन मगन हो गया सुनहु पवन सुत रहनी हमारी जिमि दसननि महती विकारी सात कबहु मुहि जानी अनाथा करी नहीं कृपा कामद तन कट साधन नाही प्रीति न पद सरोज मन माही अब मुहि भावर हो कन हरि कृपा मिलही नहीं संता गौरवीरयमुद्रहीना सुनहुद्भीषण प्रभु करह सदा सेवक पर प्रीति पवन में परम कुलीना प्रात ले दो मिलई अत में अधम अब विभीषण जी कहते हैं कि हे पवन नंदन हमारी रहनी सुनो हम ऐसे रहते हैं लंका में जीव दसनन हिमा जीव विचारी ये दसन है ना दसन दसन माने का तो जो काट ले उनका नाम होता है दसन है ना हाँ, दसन माने जो दस ले हाँ, जो दस ले उसका नाम हुआ दसन दसन बोलते हैं दांत को तो दांतों के बीच में जीव रहती है कैसी है बिचारी के चारों ओर से बत्तीस दांत उसको घेरे हुए हैं बत्तीस दांत चौर को कैसी नरम नरम नरम नरम इन कड़ों के कटोरों के बीच में रहती है हमने पहले पढ़ा था हो कि एक कोई वृद्ध महात्मा थे उनके पास कोई सज्जन गए उन्होंने कहा महाराज आप बुढ़े हो गए अपना अनुभव बता जाइए कि आपका अनुभव क्या है तो महात्मा ने कहा कि हमारा अनुभव मैं बताता हूँ हमारे मुंह में दांत है कि नहीं है तो बोले कि नहीं महाराज आपके मुंह में दांत नहीं है बोले अच्छा हमारे मुंह में जीव है कि नहीं बोले कि जीव तो है तभी तो आप बात कर रहे हैं तो बोले कि देखो जीवन में जो कठोर होता है वो टूट जाता है और जो नरम होता है वो हमेशा बना रहता है जीव नरम है कोमल है और दांत कठोर हैं तो यही हमारा अनुभव है कि जीवन में कोमलता धारण करनी चाहिए कठोरता नहीं धारण करनी चाहिए तो अब कहते हैं जिन दसनों पहुँच जीव विचारी जैसे दांतों के बीच में दसने वालों के बीच में विचारी जीव हो वही मेरी गति है तो हे साथ ये खैर हमारी बात को छोड़ो अब हम अपनी बात तुमको क्या सुनावे भगवान की बात बताओ क्या मुझे कभी अनाथ जान करके भानुकुलनाथ भगवान श्री रामचंद्र मेरे ऊपर कृपा करेंगे अपनी बात ज्यादा नहीं सोचनी चाहिए हो ये देखो भक्त शक्ति ये पहचान है हमसे ये गलती हुई हम जीवन में ये दुख पाए ये भोगे ये किया वो किया ये नहीं सोचना चाहिए ऐसे सोचना चाहिए भगवान ऐसे कृपालु हैं है ना वो कब आवेंगे हमसे कब मिलेंगे ये सब बात जो है तो मैं तो तामसी शरीर का हूँ और मेरे पास कोई साधन नहीं है और मेरे मन में चरण कमल के प्रति प्रीति भी नहीं है लेकिन हनुमंत अब मुझे भरोसा हो गया क्यों कि बिना भगवत कृपा के संत की प्राप्ति नहीं होती अगर संत मिल गया आप तरीका तो भगवान की कृपा जरूर है जर, जर, जरूर श्री रघुवीर ने मेरे ऊपर अनुग्रह किया है तभी तो तुमने हठात मेरे बिना बुलाए है ना मैंने निमंत्रण नहीं भेजा था और हठात आकर के तुमने मुझे दर्शन दिया यदि न मिलते बाहर ही बाहर चले जाते तो मैं क्या कर सकता था अब हनुमान जी कहते हैं कि सुनो विभीषण प्रभु की रीति प्रभु कई रीति विभीषण जी तुम हमारे प्रभु की रीति सुनो कर ही सदा सेवक पर प्रीति जो सदा सेवक पर प्रीति करते हैं मुझे अनाथ जान करके कभी कृपा करेंगे ऐसा क्यों कहते हो अरे तुम्हारे ऊपर वो कृपा नहीं करते वो तो तुमसे बड़ा प्रेम करते हैं कहो कवन में परम कुलीना तुम कहते हो कि तामस शरीर है मेरा मैं कौन अच्छे खानदान का हूँ तुम्हारा शरीर तामस हमारा शरीर तामस लेकिन तुम तो बड़े अच्छे अगस्त मुनि पुलस्त मुनि के पुलस्त मुनि के कुल में तुम पैदा हुए विश्वमा मुनि के तुम हुए तुम्हारा कुल तो बहुत बढ़िया और हमारा तो कुल भी अच्छा नहीं और जाति से मैं कवि हूँ और सब प्रकार से हीन हूँ और तुम हो तुम्हारा नाम तो प्रातः काल लोग स्मरण करते हैं कि क्योंकि रुकमान रुकमान गदार्जुन वशिष्ठ भीषणादीन एसान हम परम भागवतान नमामी रोज लोग प्रातः काल तुम्हारा नाम स्मरण करें और प्रात ले जो नाम हमारा सही दिन साहिद मिले आरा प्रातः काल उठ के कोई बानर बानर करने लग जाए हैं तो उसको रोटी न मिले बाबा अरे नाम लेना चाहिए राम का बानर का नाम क्यों लेना तो ऐसा मैं अब हूँ मेरे मित्र सुनो मेरे ऊपर भी रघुवीर ने कृपा की स्वप्त मराज गुना बरे दुलोचन नीर पहले पहले विभीषण जी ने आनंद में मग्न कर दिया था हनुमान जी को अब हनुमान जी ने आनंद में मग्न कर दिया विभीषण को जानत हूँ अब एक, एक, एक दृष्टि सब लोगों पर डालते हैं जानत हूँ अस स्वामी विचारी रही काहिनो ही दुखारी यही विधि कहत राम गुण ग्रामा पावा अनिर्वाच्य भीषण कही यही विधि जनक सुता कह रही कहा गुण भ्राता जी माता भीषण सकल सुनाई चलो पवन सुख विदा कराई करी कोई रूप गयो गुण करे तो कार प्रणामा वैष्णवी जातन जिजामा कायक बेनी जपत हृदय रघुपति गुण प्रेमी निज पद नयन पिए मन राम चरण महलीन परम दुखी भा पवन सुख एक जान की कहते हैं कि ऐसे दयालु कोमल स्वभाव रामचंद्र भगवान को जान करके भी ऐसे स्वामी को जान करके भी जो उनको बुला देते हैं और संसार में फिरते हैं उन्हें भला दुख क्यों न हो उनके लिए दुख ही स्वाभाविक है आप देखो विचार करके एक मिनट भगवान का स्मरण पक्का करो केवल सात सेकेंड है ना एक मिनट देखो उस एक मिनट में तुमको कोई दुख होता है और जब एक मिनट भगवान की याद करने में दुख नहीं होता मजा आता है तो पांच मिनट करोगे तो कोई दुख होगा नहीं होगा तो जब ये बात बिल्कुल प्रत्यक्ष है इस दुख भरी दुनिया की ओर से अपना मन हटा के भगवान में लगाने से बड़ी शांति और बड़ा विश्राम मिलता है ये बात बिल्कुल प्रत्यक्ष है तो ऐसे प्रभु का स्मरण छोड़ करके जो दुनिया में भटकते हैं वो क्यों न दुखी हो इस प्रकार राम जी के गुण ग्राम का निरूपण करने लग गए गुणानुसंधान करने लग गए और अनिर्वचनीय विश्राम की प्राप्ति उनको हुई राम काज ने बिना मोह कहा विश्राम अब हनुमान जी को मालूम हो गया कि विभीषण मिल गए ना तो राम काज हो गया विभीषण का मिलना ही राम काज है इसलिए अनिर्वचनीय विश्राम की प्राप्ति हुई अब सारी बात विभीषण ने बतलाई जिस रीति से जनक सुता जी वहाँ रहती हैं सो मन हारि पराखल विधि भय और प्रीति दिखाए तब अशोक पादक तल पादप तरह राकेश जतन बनाए किसी भी प्रकार लंका में रहना उन्होंने स्वीकार नहीं किया अशोक वाटिका में रहती हैं और हर समय जैविधि कपट कुरंग संग दाई चले श्री राम उसी का स्मरण करती रहती हैं हनुमंत ने कहा कि सुनो भाई मैं जानकी माता का दर्शन करना चाहता हूँ तब विभीषण ने सारी जुक्ति उनको बताई क्योंकि जुक्ति बिना काम नहीं होता जुक्ति मंजू मनी सीप सुहाई ये रामचरित मानस में युक्ति जो है वो बहुत बड़ी वस्तु मानी गई है तो सब युक्ति उन्होंने बताई अब पवन सुत हनुमान जी उनसे विदा लेकर के वहाँ से चले विभीषण जी ने तो कहा कि थके बांधे आए हो समुद्र पार करके यहाँ ठहर जाओ एक दिन दो दिन हम किसी को पता नहीं चलने देंगे और फिर सब बात का तुमको पता लगेगा लेकिन उन्होंने तुरंत विदा दी और वहाँ से चल पड़े और वही रूप धारण करके फिर वहाँ गए जहाँ अशोक वन में श्री सीता जी रहती है देख करके मन ही मन उन्होंने प्रणाम किया देखा कि बैठे ही बीत जात निशिजामा श्री जानकी जी को बैठे ही बैठे रात और दिन दोनों बीत जाते हैं बैठे ही भी लेटती नहीं है खड़ी नहीं होती है जहाँ बैठी बैठ गई और रात की रात दिन का दिन निकल जाए पुरुष तनु शरीर दुर्बल हो गया है और शीश पर जटा बालों की बन गई है एक बेणी है और हृदय में रघुपति गुण श्रेणी का जप कर रही हैं और निज पद नयन दिए मन नीचे देखते हैं हो अपने चरणों में आंख दिए हुए हैं लगाए हुए हैं इधर उधर नहीं देखती हैं कौन आया कौन गया ये आंख का चंचल होना जो है ये मन की चंचलता का सूचक है जिसका मन जितना चंचल होता है उसकी आंख भी उतनी चंचल होती है इसीलिए महात्मा लोग बताते हैं कि तुम्हें ध्यान करने के लिए बैठना हो तो आंख की जो पुतली है ना उसको स्थिर कर दो आंख की जोर नहीं लगाना केवल स्वाभाविक रूप से स्थिर कर देना और पुतली के स्थिर होते ही मन स्थिर हो जाता है तो इन्होंने अपने नेत्र को पांव का आलम्बन दिया और मन जो है वो रामचरण में लीन हो गया वो तो चित्र लिखित सी है उनकी आंख भी जो है वो चित्र लिखी सी है और परम दुखी भाव पवन सुत अब तो हनुमान जी को बड़ा दुख हुआ जानकी को इस दुखी अवस्था में देख करके तरुपल्लव महु रहा लुकाई कल्पीपरिसमुधावा सुन सुन सुमुखिशयानी मंदोदरी आदि सतरानी मोरा एक बार विलोक मनोरा तृण भरियोत कहती वह तुम अवध सत्योत प्रकाशा सब नदिनी कर ही विकासा अत सन सपसूने हरियाने मोही अधम लज्ज लाज नहीं सोही आप ही सुनी सत्योत तो समान राम ही भानु समान परुष वचन सुन वो बोलायत किसियान सियावर राम चंद्र की जय हनुमान जी को वहाँ भी छिप के रहना पड़ा लुकाई लुकाना माने छिपना छिप के रहना और वहाँ भी एक वृक्ष के पल्लव में छिप के रह गए और विचार करते हैं कि यहाँ क्या करूँ मैं हे भाई मन अब यहाँ क्या करना चाहिए उसी समय रावण सो के सो रहा था जब तो ये गए थे ढूंढने को अब रावण को आ गया स्वप्न क्योंकि ये भी देवता का आराधक है उसको ऐसा स्वप्न आया कि राम जी का कोई दूत बगीचे में आया है और वो कुछ गड़बड़ करने वाला है तो ऐसा वर्णन मिलता है राम तापनी उपनिषद में तो ऐसा वर्णन है कि राम पत्नी वनस्थाम यह स्वनिवृत्त्यर्थम दे ये वन में से राम जी की पत्नी को चुरा करके इसलिए ले आया कि रामचंद्र हमको मारेंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी मुक्ति चाहता था इसके लिए ले, आ, ले आया था तो अब जब उसको ये मालूम पड़ गया कि हमारा सपना तो बिल्कुल सच्चा है वन में उनका कोई दूत आया है तो अब ऐसी जुक्ति चल करके करें चल के जानकी को सतावे तो वो जल्दी जाके उनको खबर देगा और वो जल्दी आवेंगे और हमको जल्दी मुक्ति मिलेगी ऐसा भी कोई कोई कहते हैं तो उसी अवसर पर रावण वहाँ आया और आया तो संग नारी बहु पिए बनावा अपनी पत्नी को भी साथ लेकर आया एक बात ही विचार करने की है ना मंदोदरी को साथ लेकर के आया और बहुत बनाओ बड़ा सज भज के बड़ा श्रृंगार करके लुभाने वाला रूप धारण करके रावण आया और उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत तरह से समझाया शाम दिखाया तो समझाया बुझाया तुम क्या कर सकती हो कि तो तुम्हारा कोई वश नहीं है दान बताया भय दिखाया भेद दिखाया रावण ने कहा कि वे तुम की सुनो तुम ये मंदोदरी आदि जितनी हमारी रानी है सो तव अनुचरी करो प्रणमोरा ये दान बताया हो सुमुखी और सयानी कह करके तो समझाया और बोले कि मैं सबको तुम्हारी सेविका बना दूंगा केवल एक बार मेरी ओर देख लो अब तो श्री जानकी जी जो है वो तृण बीच में रख करके बोलती हैं माने मैं तुमको तिनके के बराबर समझती हूँ कहते हैं कि पर पुरुष से बात करनी हो तो स्त्री को किसी चीज की ओट रख करके बात करनी चाहिए खुले आम उससे नहीं मिलना चाहिए तो तृण भरी वोट ये तृण बीच में रख लेती हैं तो दूसरा तो कोई वोट यहाँ था ही नहीं और तीसरी बात ये है कि रामचंद्र के सामने तो तू तृण के बराबर है सुम सुमिरी अवधपति परम सने ही उन्हें अवधिपति का अवधपति का स्मरण हुआ कैसे हैं वे का परम स्नेही है रामचंद्र भगवान जैसा हमसे प्रेम करते हैं है ना वो बस अद्वितीय प्रेम है तो बोले कि हे दस मुख सुन भला कभी ये खरजोश बरसात के दिन में जो जुगनू रात के समय चमकते हैं तो ये जो खरजोत है उसके प्रकाश में क्या कभी कमलिनी जो है वो खिल सकती है अरे रामचंद्र सूर्य है और तू जुगनू है तू तेरे सामने ये कमलिनी भला कैसे खिल सकती है अपने मन में तो श्री जानकी जी कहते हैं कि खल तू अपने मन में समझ इस बात को क्या तुझे रघुवीर बाण की शुद्ध नहीं है तू ने एकांत में जा करके तो हमको हरण करके ले आया तू अधम है निर्लज है तुझे बिल्कुल लाज नहीं है तू अपने को खद्योत के समान जुगनू के समान सुन करके और राम को सूर्य के समान सुन करके ऐसा जो कठोर परुष कड़वा रूखा हो परुख में से प का लोक हो जाने से रुख रह गया और वही लोक में रूखा वचन कहलाता है ये रूखा शब्द जो है ये परुख का सद्भव रूप है सो अपभ्रष्ट कहो सद्भव कहो परुख वचन सुनी कार्य बोला खिसियान खिसिया गया आ, जैसे कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली खम्बा नौते है ना तो बहुत किस बहुत खिसिया गया वो और तलवार उसने म्यान में से निकाल लिया सीता तय मम कृत अपमाना कठिन तव सिर कठिन कृपाना ना ही तो सपदि मानु मम पानी तुम की हो तनत जीवन हानि श्याम करो प्रभु बुझ कर कंधर गोभुज की तवयति घोरा तुम सतयत प्रमाण पन मोरा चंद्रहास हरु मम परितापम रघुपति विरहय नल संजातम शीतल कह गीता हरु मम दुख भारा सुनत बचन पुनि मारन धावा मैं तनया कई नीति बुझावा कह सकल निज चरिन बुलाई दी नहीं बहुत त्रास हो जाई मात दिवस मह कहान माना मारी दाढ़ी कृपाना भवन गय तकंदर यहाँ पिसाचिनी वृंद पर ही रूप बहुमंद सियावर रामचंद्र की जय बोला गरी सीता तूने मेरा अपमान किया है अब मैं इस कठिन तलवार से तेरा सिर काटूंगा और नहीं तो तत्काल मेरी बात मान ले हे सुमुखी नहीं तो अब तुम्हारे जीवन की हानि हो रही है पहले बोला था सुमुखी सयानी अब बोला सुमुखी देखने में तो बड़ी सुंदर है लेकिन सयानी नहीं है दो बेवकूफ है तो सुमुखी हो तो न तो जीवन हानि सीता जी ने कहा कि दशकंधर रावण हे दसकंठ सुनो श्याम सरोज दाम सम सुंदर श्याम कमल के की माला के समान सुंदर प्रभु भुज कर कर सम दस कंधर और जो हाथी के सुंद के समान प्रभु की भुजा है तो भुज कंठ की तवयसी घोरा या तो वही श्याम सरोज दाम सम सुंदर करी कर सम प्रभु भुज जो है वो हमारे कंठ में पड़ेगा अथवा तुम्हारी तलवार पड़ेगी दोनों में से एक ही हमारे कंधे पर पड़ सकते हैं या तो तुम्हारी तलवार या तो श्री रामचंद्र की भुजा सुन सठय प्रमाण पन मोरा सच सुन ले ऐसा मेरा प्रामाणिक प्रण है कि ये हमारा प्रण कभी टूटेगा नहीं तो हे तलवार चंद्रहा चंद्रहास माने चंद्रमा की तरह जिसमें से किरण निकले चंद्रहास बोलते हैं खड्ग को तलवार को तो तू मेरा परिताप दूर कर दे क्योंकि मैं रघुपति के बुरा रूप अग्नि से जल रही हूँ और शीतल और तीखी धार तू धारण करती है तो सीता ने कहा कि हे तलवार तू मेरा दुख दूर कर दे अब ये वचन सुनते ही वो फिर मारने के लिए दौड़ा तो बीच में आ गई मंदोदरी और उसने नीति कह करके समझाया और फिर उसने सब निश्चरियों को बुला करके कहा कि तुम लोग सीता को खूब बहुत तो, तो तरह से जा करके डरवाओ और यदि एक दिन में एक महीने में हमारी बात इसने नहीं मानी तो आ, मैं तलवार निकाल करके खूब इसको मार डालूंगा मंदोदरी के समझाने से उसने कहा भाई अभी ये साजी साजी जो है वो अपनी पति अपने पति को छोड़ करके आई है अलग हुई है दुरा का बहुत दुख है महीने भर में ये सोचेगी समझेगी तो फिर तुम्हारी बात मान लेगी मंदोदरी ने ऐसा उसको समझाया उसने कहा कि अच्छा एक महीने की हम अवधि देते हैं मास दिवस माने एक महीना इसके बाद दस कंधर अपने भवन में चला गया और यहाँ पिशाचिनी वृंद पिशाचिनी राक्षसी को ही बोलते हैं कि ये क्या है कि जो मांस खाए ना पिस माने पिस माने मांस है वो पिशाचिनी पिशाचिनी माने जो मांस खाए पिशाचिनी हो उसी को पिशाचिनी बोलते हैं तो ये मांस भोजनी जो राक्षसी हैं वो सीता को त्रास दिखावे और बड़े बुरे बुरे रूप धारण करें सुत्रजटा नाम राक्षसी एका राम चरण रति निपुण विवेका सब ही बोली करहु हित अपना सपने बानर लंका जारी जा सुधान सेना सब मारी परयारूढ़ गणपत सीता मुंडित सिर यही विधि तो दक्षिण दिश जाई लंका मनहु विभीषण पाई नगर श्री रघुवीर दुहाई तब प्रभु सीता बोली पठाई यह सपना मैं कहा पुकारी होई सत्य गए दिन जारी सासु जनक सुता के चरण परी जह तह गयी सकल तबो सीता कर मन सोच मात दिवस पीले मुही मारे निधि जन चंद्र की जय अब वहाँ एक त्रिजता नाम की राक्षसी थी त्रिजता नाम राक्षसी एका एका माने बेजोड़ थी हो प्रधान राक्षसी थी उससे बढ़िया राक्षसी सारी लंका में और कोई नहीं थी क्योंकि एक शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी प्रधान के अर्थ में करते हैं निश्चरी एक सिंधु महाराई भवन एक पुन दीक सुहावा माल्यवंत एक जर्ष निशाचर मंदिर एक रुचि रहती ऐसे ऐसे जो बोलते हैं एक एक शब्द का जब प्रयोग करते हैं तो प्रधान को बोधित करते हैं वहाँ राक्षसियों में एक ही थी महाराज उसकी बराबरी की दूसरी नहीं राम क्यों उसमें एक पना कहाँ से आया जब राक्षसी है और त्रिजता है पेड़ी हाँ, दो नहीं बांधती तीन बांधती है बोला बेड़ी तो बांधती है तीन और है राक्षसी और एक है बोले राम चरण रति निपुण विवेका उसकी श्रेष्ठता ये है कि वो राम चरण से प्रेम रखती है और विवेक में बड़ी निपुण है तो सब राक्षसियों को उसने अपनी ओर बुलाया उसने सोचा कि जानकी जी को बहुत सतावेंगी बोले सुनो सुनो हम एक सपना सुनावे तो सब महाराज जानकी जी को भूल के उसकी दौड़ गई बोले देखो सपना ये है कि सीता जी की सेवा करके तुम लोग अपना अपना भला कर लो क्योंकि मेरा स्वप्न ब्राह्म मुहूर्त में आया है अभी अभी आया है और वो बिल्कुल सच्चा होगा क्योंकि मेरा सपना कभी झूठा होता ही नहीं तो स्वप्न में मैंने देखा कि एक बानर ने लंका जला दी और राक्षसों की सब सेना मार दी और दसतीस जो रावण है वो नंगा हो करके और गधे पर चढ़ा हुआ है ना और मुंडित सिर सिर मुड़ गया राजा का कोई चिन्ह नहीं और खंडित भुज बीसा बीसों हाथ उसके कट गए और दक्षिण दिशा में जमपुरी की ओर गधे पर चढ़ करके जा रहा है और लंका विभीषण को मिल गई और नगर में रघुवीर की दुहाई फिर गई और उसके बाद श्री रामचंद्र जी ने सीता को बोल पठाया अपने पास बुला लिया तो मैं पुकार के ये सपना तुम लोगों को बताता बताती हूँ चार दिन में ये बिल्कुल सच्चा होगा अब तो ये सुन करके सब की सब डर गई और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी और सब जहाँ तहाँ चली गई सीता जी के मन में बड़ा सोच इस बात का है कि एक महीने का समय दे गया है रावण ये एक महीना बीतते ये दुष्ट कोष जो निशाचर है वो हमको मारेगा त्रिजटासन बोली कर जोरी माँ विपति संगिनी तय मोरी सजऊ देह करी सुसह विरह अब नहीं सही जाई आनिकाखरक चिता बनाई मातुअल पुण्य लगाई सत्य करहि मम प्रीति सयानी सुनय पुत्रवन सुन समवाणी सुनत वचन पद गण समुधायसी प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायसी निति नयन नल मिल सुन सुकुमारी अत कही तो निज भवन सिधारी विलीन पावक विलीन यतियत प्रगट गगन अंगारा अवनियावत एक अवतारा पावक मयत विप्रवतन आगी मानव मोहि जानी हत भागी उन्हीं विनय मम पिटपय होगा नूतन कितनय अनल समाना वे यकिन कर ही निधाना एक परम विराकुल सीता शोषण कपी हृदय विचार दीन मुद्रिका कारी तब जनवतो कयंगार दीन हर क्यूटी कर गये अब श्री जानकी जी प्रजता से हाथ जोड़ करके बोली कि हे माता तुम मेरी विपत्ति की संगिनी हो मैं जहाँ विपत्त में पड़ी हुई हूँ वहीं तुम विपत्ति में मेरी सहायता करती हो तो आप जल्दी से ऐसा उपाय करो कि मैं ये अपना शरीर छोड़ दूँ क्यों बोले अब दुसह जो विरह है वो सहा नहीं जाता है दुसह विरह अब नहीं सही जाई तो जल्दी से लकड़ी ले आओ और किताब बनाओ और उसमें फिर आग लगा दो और हे सयानी तुम मेरे प्रेम को सच्चा कर दो क्योंकि ये सूल के समान जो रावण की वाणी है उसको अपने कान से कौन सुने अब ये बात सुनते ही सृजता ने उनके चरण पकड़ लिए और प्रभु प्रताप बल सुजत ये सु ये जानकी जी की जो दृष्टि है वो बारंबार अपने पर आती है हाँ। कि मुझे ये दुख है मुझे ये दुख है जब अपने पर आती है तब दुख हो जाता है दुख होता ही मनुष्य को तब है जब वो अपने चारों ओर मड़लाने लगता है तो सृजता ने क्या उपाय किया कि प्रभु का कैसा प्रताप है कैसा बल है कैसा सूजक है सब जानकी जी के मन को जानकी जी के चारों ओर से हटा करके राम जी में लगा दिया बोली कि हे सुकुमारी रात में आग नहीं मिल सकती किसके घर हम जाए चार बजे सवेरे मांगने के लिए कि हमको आग दो है ना दिया सलाई लंका में नहीं होती थी हो है ना निशिना नल मिलो सुन सुकुमारी ऐसा कह करके वो अपने घर चली गई अब सीता जी अकेली पड़ गई और उन्होंने कहा कि देखो विधाता ही हमारे उल्टा पड़ गया आग मिलेगी नहीं और हमारा दुख मिटेगा नहीं तो ये तारे जो आकाश में हैं सब छिटके हुए वो उनको आग के अंगारे के समान मालूम पड़ते हैं विरह में ऐसी अवस्था हो जाती है कि अच्छी चीज भी बुरी लगे तो वो कहने लगी कि आकाश में बहुत से अंगारे प्रकट रूप से दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन एक भी तारा ये धरती में गिरता नहीं है और विरावस्था प्रेमोन्माद हो गया हो उसमें तारे जो है अंगारे बाजते हैं <coughs> चंद्रमा जो है वो आग की तरह मालूम पड़ता है और कहते हैं कि इसमें से आग झरती क्यों नहीं मुझे हतभागी जान करके ये मेरा उपकार नहीं कर रहा है अब बोले कि हे अशोक बिटप तुम मेरी विनय जो है वो सुन लो अपना नाम सत्य करो और मेरा शोक हरण करो क्योंकि अशोक कहते ही उसको हैं जो शोक का हरण कर ले तो अशोक जिसके हाँ। नास्ती शोको यशमात है ना जिसका जिससे शोक की निवृत्ति हो गए उसका नाम अशोक तो देखो तुम्हारे जो नए नए किसलय हैं पल्लव ये कहते हैं आग के समान लाल लाल हैं तो यही आग तुम हमको दे दो हम अपने शरीर की जो व्यवस्था है इसको अंतिम गति में पहुंचा दें कारण में पहुंचा दें अब जब हनुमान जी तो उस समय पेड़ पर बैठे हुए थे और जब उन्होंने देखा कि सीता जी परम विरह से व्याकुल हो गई हैं, परम व्याकुल हो गई हैं, तो वो क्षण उनके लिए कल्प के समान व्यतीत हुआ कपी करी हृदय विचार दीन ही मुद्रिका डारी तब रामचंद्र ने जो उन्हें मुदरी दी थी अंगूठी दी थी हृदय में विचार करके हनुमान जी ने उसको गिरा दिया जनु अशोक अंगार मानो अशोक ने अंगार बरस दिया तो छत खुशी हुई जानकी जी को और उठ करके उन्होंने उसको उठा लिया तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित सुंदर चकित चितव मुदरी पहचानी हरक कभिभाग विधवय को सकई जय रघुराई माया रख नहीं जाई सीता मन विचार कर नाना मधुर वचन बोले हनुमाना रामचंद्र गुण पर नहीं लागा सुन सही सीता कह सुख भागा लागी सुने श्रवण मन लाई आदि मुझे सब कथा सुनाई कथा सुहाई कहीं तो प्रकट हो सचिन भाई तब हनुमंत निकट चल गयू की मन विस्मय रामदूत मैं मात जान की सत्य सपथ करुणा निधान की राम तुम कह सही दानी नरमा नरहि संग कैसी कही कथा भई संगति जैसे ये वचन सप्रत सुनी उपजा मन विश्वास जाना मन क्रम वचन कृपा सिंधु कर दास अब जानकी जी की दृष्टि पड़ी कि ये तो मनोहर अंगूठी है और उस पर राम नाम जो है वो अति सुंदर राम नाम अंकित है हाँ। ये एक तरह की मुहर भी पहले ऐसी होती थी लोग अपनी अंगूठी में ही मुहर बना के रखते थे हो और उसकी छाप लगा दिया करते थे तो अति सुंदर राम नाम से अंकित और वो मुद्रिका अब तो आश्चर्य चकित होकर के देख रही हैं वो तो मुदरी पहचानी हुई है कभी हर्ष होता है कि रामचंद्र ने भेज दिया हमारे पास कभी विषाद होता है कि उनके हाथ से किसी निशाचर ने प्राप्त कर ली हृदय में बड़ी व्याकुलता हुई फिर सोचती हैं कि रामचंद्र तो अजय हैं हाँ। उनको कोई जीत नहीं सकता अजित है वो अजित अजित है भगवान उनको कोई जीत नहीं सकता और माया से ऐसी अंगूठी दूसरी नकली नहीं है है ना और सीता मन अपने मन में नाना विचार कर रही हैं इसी बा इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले अब वो रामचंद्र का गुण वर्णन करने लगे सुनते ही सीता का दुख भाग गया कि यहाँ कोई रामचंद्र के गुण का वर्णन करने वाला है अब श्रवण में श्रवण और मन कान और मन दोनों लगा दिया या अपने मन को उन्होंने दिल में से निकाल के कान में कर दिया श्रवण मन लाई आ, हाँ, अपने सारा मन उनका जो है वो कान में आ गया और सुनने लगी और हनुमान जी ने आदि से सारी की सारी कथा सुनाई जब अपने प्रिय व्यक्ति की बात सामने आती है तब मनुष्य को अपनी बात सारी भूल जाती है विरह से दुख तो अपनी दृष्टि से हो रहा था इसलिए सीता जी दुखी थी और जब अपने पर से दृष्टि हटी उनके ऊपर दृष्टि गई तुरंत आनंद हो गया अब तो उन्होंने कहा कि जिन्होंने ये सुहाई श्रवणा अमृत कथा बड़ी सुंदर और कानों के लिए अमृत तरी की ये कथा सुनाई है सो वो प्रकट क्यों नहीं होते हैं भाई अब हनुमान जी निकट आ गए अब फिर उन्होंने मुंह फिरा लिया मन में बड़ा आश्चर्य हुआ ये आश्चर्य हुआ कि कहीं रावण ही इनका वेश धारण करके ना आया हो राक्षसों की माया का कुछ पता नहीं चलता है तो वे बोले कि माता पहला संबोधन जो किया राम दूत मैं माँ जान जानकी मैं माता जानकी तुम मेरी माँ हो और मैं जानकी तुमको तुम्हारे पिता को भी जानता हूँ और मैं रामचंद्र का दूत हूँ सत्य शपथ करुणा निधान की अपने प्रिय व्यक्ति की शपथ खाई जाती है तो बोले कि सत्य शपथ बोले कि सत्य शपथ है सौगंध है क्या कि करुणा निधान की करुणा निधान जो है ये श्री रामचंद्र जी का एक विशेष संकेत है हो ये प्रारंभ से ही जब से शत्रुपा मनु के सामने प्रकट हुए तब से और जब कौशल्या के सामने प्रकट हुए तब से और जहाँ जहाँ कोई पहचान की बात आती है तो भगवान के साथ करुणा निधान शब्द का प्रयोग होता है करुणा निधान की तो यह मुद्रिका माँ तो मैं यानी माँ मैं लेके आया हूँ ये मुद्रिका और रामचंद्र ने ये तुम्हारे लिए दी है सही दानी के रूप में जिससे तुम हमको ठीक ठीक पहचान सको सीता जी ने पूछा कि ये नर और बानर में प्रीति कैसी हुई तो उन्होंने सुग्रीव की मिटाई की जो कथा है वो सब सुनाई अब कपि के कपि के वचन सप्रेम सुन करके उनके मन में विश्वास पैदा हुआ और जान लिया उन्होंने कि ये मन कर्म और वतन से करुणा निधान भगवान श्री रामचंद्र का कृपा सिंधु का दास है हरिजन जानी प्रीति अति बाढ़ी सजल नयन पुल कावली फाड़ी बूढ़त विरहत भी हनुमाना भयउतात मोह कहूँ जल जाना अब कहू कुशल जाऊ बलिहारी अनुज सहित सुख भवन करारी कोमल वितुराई कभी कही है सुधरी तो निपुराई सहजपान सेवक सुखदायक कबहु कसुरति कर गुनायक कबहु नयन मम शीतल काटा